यहोदायक फल चारु सियावर रामचंद्र की जय अवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय प्रभा संख्या एक सौ बीस के बाद प्रेम बोले खबराऊ जो कृपाल मयू पर भाऊ मोहिन जो सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहु बखानी प्रथम ही मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा बल दुख करन कवन सुख भारी सो संचेत कहु विचारी संतय संत मरम तुम जानो तिन कर सहज स्वभाव बखानू कवन पुण्य सुत विदित विशाला साहु कवन यज परम कराला मानस रोग कहु समझाई सर्वज्ञकृता यदि कायी का कृष्णौ सादरयति प्रीति मैं संक्षेप का नीति नरतन समन कवन दी जीव चराचर जात प्रति नरक स्वर्ग पवर्गन तीनी ज्ञान विराग भगति सुदीनी सुतनु हरि हरि भगवीन जीन कोहि तो वीर विषयरत मंद मंद कर कांश किरच बदले देने करते दारी परस मन देवी नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख जग नाही परोपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया संत साई दुख पर हित लागी पर दुख हेतु संत भागी भूर्ज तरुषम संत कृपाला परजित सदपति विशाला सनैर खल पर बंधन करई खाल कढ़ाए दिपत सह मरई फल दिन स्वार्थ पर उपकारी अभिमु सतैव सुनोर पर संपदा विनाश न साही जिन ससहति में उपल बिलाही दुष्ट उदय जगयारत हेतु यथा प्रसिद्ध अधम ग्रहकेतु संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जन इंदु तमारी परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा पर निंदा समय जन गरीसा हर गुर निंदक दादुरोही जन्म सहस्त्र पावतन सोई द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन मई बायस शरीर धरी सुरसुत निंदक जी अभिमानी रौ रौ नरक परंते प्राणी वही लूक संत निंदारत मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत सब कौ निंदा जे जड़ करही चमुगा दुर हुई अवतरणी सुनऊ तात मानस सरोगा जिनते दुख पावन सब लोगा मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन पे पुनः उपजन बहुशूला राम बात कपलोक अपारा क्रोध पित्त नित गारा प्रीति करही जौती न्यू भाई उपजय सन्यपात दुखदायी विषय मनोरथ दुर्गम नाना तब सूल नाम को जाना ममता दादु कंदु ईर्षाई हर्ष विषाद गर्ह बहुताई पर सुख देख जरन सोई छई दुष्ट कुष्ट दुष्ट दामन कुटिलई अहंकार अति दुखद डमरुआ दम्भ कपट मदमान मान नहरुआ कृष्णा उदर वृद्धि भारी विभीषण तरुण तिजारी जुग जर मत सर विवेका अलग कहूँ कुरो गयनी का एक जाति बस नर नरही असाधि बहु जाति रही संगत जीव कहूँ शोक में लहे समाधि नीन धर्म आचार तप ज्ञान जग जगत दान ये सब को टन रोग जान हर जान श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय का पिछला प्रश्न था कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है आपने भक्ति की इतनी महिमा क्यों गाई उसी का पक्ष क्यों दिया तो उन्होंने तीन कारण बता दिए उसके <clears throat> अंत में ज्ञान की कठिनता और भक्ति की सुगमता बता दी और ये भी बता दिया कि ज्ञान बिना भक्ति के टिक नहीं सकता <clears throat> इसलिए ज्ञान के साथ पर तो भक्ति होनी ही चाहिए भक्ति है तो उसमें ज्ञान होगा ही होगा ये नहीं कह सकते कि भक्ति ज्ञान के बिना नहीं टिकेगी भक्ति तो होगी ही नहीं ज्ञान के बिना तो ज्ञान चाहिए पहले तभी भक्ति होगी और फिर भक्ति भक्ति की रहेगी तो वो ज्ञान भी टिका रहेगा ये ज्ञान और भक्ति का अंतर ही बता दिया ये भी बता दिया कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है वो भी बता दिया अंत में ये भी बता दिया कि भक्ति की प्राप्ति के लिए साधन है ये साधना मुख्य साधन सत्संग है सत्संग से फिर भगवान की कथा भगवान की कथा के साथ थोड़ा ज्ञान परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा में समर्पण और प्रेम ये भक्ति भक्ति होते होते व्यक्ति में काम क्रोधाद विकार सब नष्ट हो जाते हैं जब तक ये विकार रहते हैं तब तक भक्ति नहीं समझनी चाहिए भक्ति कोई मौखिक या शारीरिक कार्य नहीं है भक्ति आंतरिक मानसिक दशा हृदय की जिसमें कि जब हृदय परम पवित्र शुद्ध में विकार हो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष दूर न रह जाए काम क्रोध विकार में जाए छल समय पाखंड आदि में रह जाए अभिंदा इत्यादि कोई दोष न रह जाए हृदय परम पवित्र शुद्ध हो जाए उदार शांत परमात्मा भाव में बदले रहने वाला अकाल दयालु स्वभाव उदार शांत स्वभाव व्यक्ति का हो जाए ऐसी स्थिति आंतरिक होता है उसका नाम भक्ति है उस समय व्यक्ति अपने परमात्मा का आनंद विश्राम शांति पा जाता है तो ये भक्ति जो वो हो परम प्राप्त विषय प्राप्त करना चाहिए तो काव्य ने जब तक इन सब बातों का वर्णन किया तो बीच बीच में कई बातें ऐसी बोली जो गौर ने सुना और उनके मन में आया तो प्रश्न करना चाहिए जो बातें संक्षेप में बोल गए काव्यसन तो गरुड़ के मन में उनके संबंध में जानने की इच्छा हुई वो उन सबको नोट करते रहे अंत में जब जब कालभूषण शांत हुए चुप हुए तब गरुड़ ने देखा कि उनके पास सात प्रश्न इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अंत में सातों प्रश्न एक साथ पूछ दिया ये सातों प्रश्न आप ध्यान देंगे कि कल परसों के जो जो उन्हें ज्ञान और भक्ति का जो अंतर बताते रहे हैं उसके बीच में ही सातों बातें आती रहेंगी संक्षेप में संतों का भी पापों का भी और ये, ये मानस रोग का भी एक बात बीच में बोल गए तो ये सब प्रश्न बीच बीच में सबको बोल गए वो सात प्रश्न हो गए सात और प्रश्न अब का जरूर जो है कालभूषण जी से पूछते हैं सात बातों तो इन सात बातों को जो आगे बताई गई इनको अगर ध्यान में रखें और फिर ज्ञान भक्ति का फिर अध्ययन करें उनको फिर देखें तो फिर उनको वहां पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है किस अर्थ में प्रयोग हुआ है ये देख करके वो और भी स्पष्ट हो सकता है ये क्रम इस प्रकार के है तो पुन सप्रेम बोले खजराऊ खजराऊ के मैंने गर्व जो है ये इस प्रकार से फिर बोले कि जय कृपाल मैंने ऊपर भाऊ की आपका हमारे ऊपर कृपा आपका कृपा का भाव हमारे ऊपर है आप कृपा है हमारे ऊपर तो हम आपसे और भी पूछते हैं वो बताइए नाथ मोहिंद की सेवक जाने आप समझें कि हम आपके सेवक हैं हालांकि कालभूषण गरुड़ को प्रभु इत्यादि संबोधन करते रहे खगेश संबोधन करते रहे प्रभु भी बोला है कई जगह तो लेकिन गरुड़ कहते हैं कि अब तो हमें आप अपना सेवक समझो प्रभु तो आप स्वामी तो आप ही हम आपके सेवक ऐसा समझ करके हम आपसे प्रश्न करते हैं और हमारे प्रश्न का समाधान करो नाथ मोहिनी जो सेवक जानी सत्य प्रश्न मम काऊ बखानी तो सात प्रश्न हमारे हैं वो जो है उनको उनका भी हमें समाधान कर दिए बता दिए उनका तात्पर्य क्या है गरु जो है वो तो पक्षी जात जो है उसके राजा है इसलिए समस्त पक्षियों के स्वामी है और काव्य सिंह भी मान गए पक्षी हैं तो उनके भी स्वामी भी हो गए लेकिन सबका स्वामी तो संत है गुरु है आचार्य है वो सबका स्वामी जितने शिष्य हैं उन सब शिष्यों का भी स्वामी अब ये जरूर जो है भले ही ये सब पक्षियों के राजा हो गए लेकिन अब इनके सामने जो है गुरु हैं वो हो काव्य सिंह भी हैं पिता कौवे हों या कोई भी हो चाहे चांडाल पक्ष हो कुछ भी हो लेकिन जब ये गुरु हैं तब इनके पास ये गरुड़ जो है शिष्य के समान है अब ये गरुड़ हो गए यहाँ सेवक और काभूषण हो गए स्वामी गुरु में भी स्वामी सेवक का संबंध है भगवान में भी स्वामी सेवक का संबंध है गुरु और परमात्मा एक ही समान है दोनों एक समान ऐसा भाव करके तब यह वो उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ प्रश्न और हैं उनका समाधान भी आप करिए तो कौन कौन से सात प्रश्न है वो सब गिना देते हैं प्रथम में कहो नाथ मत कीरा कि नाथ नाथ संबोधन ही उनको प्रभु के लिए स्वामी के लिए उसी प्रकार से है कि ये नाथ आपको मत भीड़ है ज्ञान निधान है बुद्धिमान है आप हमसे जुड़ेंगे पहली बात तो ये कि सबके दुर्लभ कौन शरीर शरीर सबसे ज्यादा दुर्लभ कौन माने देवताओं से लेकर के और यक्ष गंधर्व इत्यादि मनुष्य और तीस पतंग पशु पक्षी उन सभी को शरीर प्राप्त होते हैं समस्त प्राणियों को लेकिन समस्त प्राणियों में से सबसे दुर्लभ शरीर कौन है दुर्लभ वो जो सबसे श्रेष्ठ हो वही दुर्लभ होगा तो सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन है वो बताइए और फिर बड़ दुख कवन कवन दुख भारी दूसरा प्रश्न ये कि बड़ दुख कवन सबसे बड़ा दुख कौन है बोल पाए नंबर तीन प्रश्न है पवन सुखधारी सबसे बड़ा सुख कौन है वो भी बताए बाकी संसार में सुख दुख का को तो भी लोग नहीं जानते गर्व ने भी इसीलिए पूछ दिया कि लोग समझे तो कि सुख किसे कहते हैं दुख किसे कहते हैं बहुत बार लोग दुख को ही सुख समझे रहे सुख को ही दुख समझे रहे सुख दुख का विवेक भी नहीं कर पाते जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मानते हैं जहाँ दुख नहीं है वहाँ दुख मानते हैं ये बातें होती रहती है इसलिए ये हुआ कि सुख दुख का विवेक भी बताइए किसे सुख माने किसे दुख माने कहाँ सुख है कहाँ दुख है कौन सबसे बड़ा सुख है कौन सबसे बड़ा दुख है ये भी बताइए तो तीन प्रश्न ये होगा शिव संक्षेप चाहो विचारी वो विचार करके संक्षेप में आप बताइए कौन सा शरीर दुर्लभ है इसमें ज्यादा संक्षेप करने की जरूरत नहीं है लेकिन कौन दुख बड़ा है कौन सुख बड़ा है इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है तो संक्षेप नहीं बता देंगे मैंने केवल जिज्ञासा मात्र की है लेकिन फिर और बातें में ज्यादा विस्तार से कहनी है वो भी पूछते हैं कहते हैं संत है संत मर्म तुम जानो तुम कर सही सुभाव बखानो चौथा प्रश्न ये है <clears throat> कि संत संतों का भेद क्या है उसका आप मर्म जानते हो तो संत असंत को जानना तो एक अलग बात है उसके मर्म को जानना अलग बात है मन मन गहरी असली जड़ क्या है जिसके के कारण कोई व्यक्ति संत हो जाता है अथवा असंत हो जाता है वो मूल बात क्या है तो इसलिए कहते हैं कि हमें जो हो उसका मर्म हमें बताइए और तिलकर तो सहज स्वभाव बखाना हूँ इन संतों का सहज स्वभाव क्या है असंतों का सहज स्वभाव क्या है सहज स्वभाव को तो मैंने जब संत होगा तो उसका अपना स्वभाव एक अपने प्रकार का होगा असंत होगा तो उसका स्वभाव अपने प्रकार का होगा और वो सहज होगा मन जैसे व्यक्ति की प्रकृति वैसे ही उसका स्वभाव सहज के माने है सहमन साथ साथ जागरण उत्पन्न होना जब व्यक्ति पूर्ण जन्म में जैसे कर्म करता है वैसा ही इस जीवन में व्यक्ति बनता है तो जब जन्म से व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसी के साथ साथ कुछ और भी उत्पन्न होता है मनुष्य ने सब जन्म लिया है तो उसके साथ साथ और क्या जन्म लिया उसके पूरे जन्म के कर्म उसके साथ आए उसका प्रारंभ हुआ है वो भी जन्म लेता है और जैसा प्रारंभ होता है वैसे ही उसके जो वो हो उसके संत संत का स्वभाव भी वैसे होता है गुणी है दुर्गुणी है भला है बुरा है ये स्वभाव भी उसी का उसी के साथ साथ उत्पन्न होता है तो ये स्वभाव भी सहज होता है हम्म, जन्म से ही प्राप्त होता है जो कहते हैं उसके उनका सहज स्वभाव जो उनका है वो भी आप बताइए स्वभाव उनका कैसा होता है कैसा आचरण करते हैं और पवन पुण्य सुख विद्युत विशाला इसके बाद ये है पांचवा प्रश्न ये है कि कवन पुण्य सुख विद्युत विशाला सबसे बड़ा पुण्य कौन है हम जिसका जो वर्णन किया गया है सबसे बड़ा पुण्य आप बताइए क्या है और कहू कवन अज परम कराला और छठवा अच्छा, प्रश्न ये है कि आप बताइए जो सबसे खराब पाप कौन सा है अब पाप वो सबसे भयंकर पाप किसे माने तो ये पाप पूर्ण पुण्य का भी विश्लेषण हो जाए कौन सबसे बड़ा पुण्य है कौन सबसे बड़ा पाप है ये भी आप बता दें इस प्रकार छह प्रश्न हो गए अंतिम प्रश्न सातवा कि मानस रोग का समझाई तुम सर्वज्ञ कृपा बिताई मानस रूप कौन से हैं वो भी आप समझा करके बताइए मानस रोग ये भी बीच में आया था प्रश्न ने कहा था कि मानस रोग न व्यापकता ही उसकी भक्त आती है उसके हृदय में तो भक्ति की महिमा सुनाते हुए बोल दिया कि उस व्यक्ति को मानस रोग नहीं मानस रोगों से मुक्त हो जाता है भक्त ये कहते हैं मानस रूप किनको कहते हैं वो भी समझा दीजिए तो वो ये बात यहाँ विस्तार से जिनके पूछने पर बाबूषण तो जी बताएंगे तुम सर्वजी यहाँ तो कहा है मानस रोग ताओ समझाई मैंने समझा करके मैंने उसका कारण इतना अच्छा बता करके विस्तार से समझा और रोग उत्पन्न कैसे होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं इन रोग रोगों के लिए उपचार कैसे किए जाते हैं किन दवाओं से ये रोग ठीक नहीं होते हैं किन दवाओं से ठीक होते हैं दवा करें तो कौन कौन सी बातों को सावधान रखें ये सब बातें समझा करके करो इसमें जैसे पहले कह दिया था कि बड़ दुख कवन कवन भारी सुन संक्षेप कहो विचारी तो संक्षेप में सुनना तो ज्यादा उसमें नहीं थी केवल जान लेने मात्र की बात नहीं थी लेकिन मानस रोग का प्रश्न जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मानस रोग का की चर्चा जो है बालकांड के प्रारंभ से ही चली आ रही है जहाँ पर गुरु की वंदना इत्यादि प्रारंभ की वही मानस रूप की भी बात वहीं से शुरू हो गई पहले पन्ने में जहाँ पर ये गुरु की कृपा गुरु जो है सूर्य के समान है प्रकाशमान है वह अंधकार के जैसे सूर्य मिटा देता है फिर ज्ञान को मिटा देता है वहां से गुरु की वंदना जा शुरू की थी वही वही जो है वो हो गुरु की कृपा से मानस रोग भी नष्ट हो जाते हैं वही बोल दिया था तो मानस रोग नष्ट हो जाते हैं गुरु की कृपा से तो अब यहाँ ये मानव स्वरूप है क्या वो अब यहाँ अंत में बताते हैं राम रामचरित मानव समाप्त हो गया तो गर्भ पारभूषण का संवाद भी समाप्त हो जाता है तो ये मानस स्वरूप यहाँ पूछे जाते हैं साल यहाँ पर स्पष्ट करते हैं इनको समझा कर देना तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी कि आप तो सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं इसलिए सब बता देंगे आप और आप कृपा निधान भी हैं इसलिए कृपा करके बताएं बताने वाले बात व्यक्ति में दो बातें होनी चाहिए वो तो जो बतावे उसका ज्ञान भी उसने कभी बता बतावे ज्ञानी ने बता देता और जब ज्ञान हो भी तो वो कब बताया कि जब किसी के ऊपर कृपा भाव जागृत हो कृपा भाव नहीं जागृत हो अपने मन इसलिए दोनों बातें आप में आप ज्ञानवान भी हैं और आपने कृपा भाव भी हमारे ऊपर है इसलिए आप इस बात उसने हमारे बताए आप कहते हैं कि देखो यहाँ उत्तर में काव्य जी एकाप सुनो सादर एक प्रीति एकाप ताप में अब यहाँ पर ये नाच नहीं कहते हैं ताप कहते हैं अगर तुम हमको अपने आप को हमारा शिष्य समझते हो सेवक समझते हो अपने को तो उनको भी उन्होंने कहा कि एकाप अब सुनो सादर अति प्रीति बड़े प्रेम के साथ में अब सुनो ये सातों प्रश्नों का जैसा जब तुम्हारा प्रश्न है तो तुम इंटरेस्ट भी लोग इसमें सुनोगे ऐसा नहीं कि तुमने प्रश्न कर दिए और उसके बाद में कह दिया हम भगते रहे तुम चले जाओ अपने कभी बोलते रहो प्रश्नों का उत्तर ऐसे नहीं प्रश्न अगर किए हो तो तुम्हें उनका उत्तर जानने की जिज्ञासा भी होगी और सावधान होकर तुमको सुन भी हो मैं संक्षेप संक्षेप मैं संक्षेप कहूँ यह नीति कहते वैसे तो भी ये इनका विस्तार करो तो बहुत है लेकिन सातों प्रश्नों को हम संक्षेप नहीं कहेंगे यद्यपि थोड़ा कहीं संक्षेप कहीं विस्तार इन्होंने किया है लेकिन फिर भी इसको मिलाकर के संक्षेप में लिया क्योंकि देखते हैं कि दूसरा विभाग अंदर नहीं आता एक ही सांस में सब कह जाते हम्म? यहाँ से जब छात्र पसंद चलते हैं तो दूसरे दोहा तक नहीं आता तो एक स्टेशन मिले एक थोड़ी देर रुके विश्राम हो सुख हो ले तो चले गए साथ में एक सांस में साथ खाते नर तन सम नहीं कवनी दे ही यहाँ से प्रारंभ कर इसको देखो सबसे ज्यादा जब आप पहले प्रश्न को देख लो कि सबसे दुर्लभ कौन तो तब उसका उत्तर हो गया नर तन सम नहीं कवनी देगी सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर सबसे सुंदर भले ही न हो सबसे श्रेष्ठ भले ही न हो लेकिन सबसे दुर्लभ जरूर है मतलब मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर के जो लाभ हैं जो उपयोगिताएं हैं वो अन्य शरीरों में नहीं इस कारण वो सब बताते हैं क्यों मनुष्य शरीर दुर्लभ है स्वर्ग में पहुंच के देवता का शरीर प्राप्त हो गया तो देवता का शरीर प्राप्त करना दुर्लभ नहीं वो भी बड़ा दुर्लभ हो सकता है तो देवता के शरीर की दुर्लभता तो बस इतनी हो सकती है कि शरीर बड़ा सुंदर भी है और खूब शारीरिक सुख और इंद्रिय सुख भी वहां खूब प्राप्त है बस इतनी मात्र वहां की सुंदरता और शरीर की है बाकी और कुछ नहीं देता कि शरीर में हम्म। गंधर्व का शरीर जो है वो भी बड़ा सुंदर है हम्म। गंधर्व उसका शरीर भी बहुत सुंदर शरीर उसका चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो गंधर्व लोग के बड़े ही नियम के बगुआ जैसे बने हुए चमाचन गोरमटोल बढ़िया से सुंदर सब बढ़िया से उनके रंगे कुटे एकदम से मूर्तियां जैसे साफ सुंदर बहुत बढ़िया और सबके कंठ बहुत मधुर बोले तो बिल्कुल एकदम से सब संगीत ही संगीत बोलते हैं सब गाते हैं ये तो सब बहुत बढ़िया है लेकिन बाकी आगे उस शरीर का कोई उपयोग नहीं है सुंदर शरीर देख लो सुंदर सुंदर वाणी देख लो गला नगर देख लो वो शक्ति वाला लेकिन मनुष्य शरीर में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जब तो देखो तो जीव चराचर जातक ये ही हर जितने भी जीव हैं चाहे गंधर्व हो चाहे स्वर्ग हो चाहे असुर हो चाहे सागर पक्षी हो तीर्थ पतंग हो सभी मनुष्य शरीर प्राप्त करना सभी चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है कहते नरक स्वर्ग या तो वर्ग में सहनी सबसे पहली बात ये कि मनुष्य शरीर ही चाहे व्यक्ति नर्क जाना चाहे तो इसी शरीर में ऐसे काम करके नर्क पहुंच जाएगा का ऐसे शरीर में ऐसे काम करे कि स्वर्ग पहुंच जाएगा घर में पहुंच जाएगा सत्य नशेनी नशेनी मैंने सीढ़ी चढ़ करके जहाँ जाना होता है वैसे में शरीर जाने के लिए मार है मनुष्य शरीर अब ये नरक क्या सबसे निम्न लोग जो है वो नरक है अधोगति एकदम से नरक है यहाँ पर प्राणी जो है अपने पाप कर्मों का फल भोगता है यात्रा सभी प्राप्त हो जाता है प्रकार के उन यात्राओं को भोगता है तो नरक लोग सबसे उसके ऊपर जो है वो सात पाताल है नरक के बाद पाताल अकल बिकल सुकल कलाकल पाताल इत्यादि उनके नाम है ये सब लोग जो है पाताल लोग कहलाते हैं ये भी हैं उनसे ऊपर का लोग जो है ये है कि पृथ्वी लोग है यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य लोग भी है इससे भी उच्च लोग कहलाते हैं उच्च लोग फिर कहलाते हैं गंधर्व लोग हैं पितृ लोग हैं आजानव लोग हैं देव लोग हैं तो देव लोग जो है फिर स्वर्ग लोग कहलाता है तो फिर उच्च लोगों में स्वर्ग आ गया तो नरक से लेकर के स्वर्ग तक के विभिन्न लोग हैं वे लोग हुए तो ये समस्त लोगों में कहीं भी देखी जा सकता है मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर वो जैसा कर्म करे शुभ कर्म करे अशुभ कर्म करे कर्मानुसार ये सब लोग प्राप्त होते हैं नरक जाता है तो कर्मानुसार जाता है पाताल लोगों में जाता है तो कर्मानुसार जाता है तीर्थ पतन सब पक्षियों के शरीर प्राप्त होते हैं कर्मानुसार प्राप्त होते हैं मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ कर्मानुसार प्राप्त हुआ फिर गंधर्वों इत्यादि का शरीर देवताओं का शरीर प्राप्त हो गया कर्मानुसार प्राप्त हुआ सब कर्मानुसार प्राप्त हुआ लेकिन सब कर्मानुसार सब शरीर प्राप्त होते हैं लेकिन मनुष्य शरीर कर्मानुसार साथ प्राप्त होता है लेकिन इस शरीर के साथ में मनुष्य शरीर के प्राप्त होने के साथ में एक बात और भी है केवल कर्मानुसार नहीं है ईश्वर की कृपा वो समस्त प्राणी जब जानता परमात्मा के सब हमारे ही स्वरूप हैं इनका उद्धार भी होना चाहिए तो उनके ऊपर वो अहेतुकी कृपा भी करता रहता है और उन प्राणियों के को कर्म को ही देख करके स्वर्गादि में देख करके मनुष्य शरीर दे दिया पुण्य से ही पुण्य के फल स्वरूप ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जब उसे अन्य उच्च लोगों की प्राप्त नहीं हुई तो मनुष्य ही प्राप्त कर, करा दिया उसको तो पर मनुष्य शरीर को प्राप्त करा देना ये भगवान की कृपा है इस प्रकार से ये आकर चार लाख चौरासी जन धमक ये जीवा विनाशी कबहुक करुणा नर देवी देव ईश दिन हेतु शरीर ही वो भी आदत है कि तो ये मनुष्य शरीर के साथ ही हो कि यहाँ भगवान की कृपा दी तभी शरीर प्राप्त हुआ कह रही है ये सब मिलकर के इसलिए ये मनुष्य शरीर दुर्लभ हुआ कि समस्त लोग कोई भी लोग जो ऊंच नीच लोग जो है मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होंगे लोगों को भी प्राप्त मनुष्य शरीर में दिखा कर सकता अपने कर्मानुसार और फिर अपवर्ग में से नहीं के शरीर से अपवर्ग भी प्राप्त हो सकता है अपवर्ग के माने हो गया युक्ति हाँ? परम पुरुषार्थ के साथ जो निश्रेयस है युक्ति है परमात्मा की प्राप्ति है ज्ञान है भक्ति है ये भी प्राप्ति अपवर्ग में आ गया हाँ? ये भी मनुष्य शरीर में उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है मनुष्य शरीर धारण करके कोई भी व्यक्ति जो है परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है भक्ति भी प्राप्त कर सकता है अब यह अब, अब देखो ये सभी मनुष्य जो है चाहे जिस प्रकार की जाति के हो और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबके ऊपर ही लागू होता है स्त्री पुरुष सबका शरीर और ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक के सबके शरीर ये सभी शरीर दुर्लभ अगर शूद्र भी हुआ तो भी मनुष्य का शरीर तो है दुर्लभ शरीर स्त्री का वैश्य का इनके भी शरीर प्राप्त हुए तो वो भी शरीर जो है दुर्लभ शरीर है वो भी ये शरीर में प्राप्त होने वाले लेकिन इन सब शरीरों से सभी जितने प्रकार के मन शरीर है उन सबके शरीरों में व्यक्ति के अपने अपने धर्म है अपने अपने कर्म है उनके अपने अपने कर्मानुसार व्यक्ति जो वो हो इन सबको नरक में भी जा सकता है स्वर्ग में भी जा सकता है और मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है इनमें चारों वर्णों में से स्त्रियों में से भी और जो वर्णों से बाहर वर्ण वायु कहलाते हैं चंदा